परम पिता परमात्मा का स्मरण रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण ओ प्रेमी सज्जनों आर्यों को जो प्रार्थनाएं करनी होती हैं उनमें विभिन्न चीजें परमात्मा से मांगी जाती है परमात्मा से इच्छा की जाती है और उन वस्तुओं में मेधा की कामना एक मुख्य कामना है महत्वपूर्ण कामना है आज जो मंत्र हमारे सामने है आर्यभिविनय के द्वितीय प्रकाश का चौवनवा मंत्र और ये यजुर्वेद के बत्तीसवें अध्याय का पंद्रहवा मंत्र है इस मंत्र में पुनः पुनः मेधा की कामना प्रार्थना की गई है मंत्र है मेधा मे वरुणो ददातु मेधा अग्नि प्रजापति मेधा इंद्रश्च वायुश्च मेधा धाता ददा तुमे स्वाहा मेधा का अर्थ हम बुद्धि करते हैं बुद्धि का मतलब वो अंतकरण वो उपकरण हमारी वो आभ्यंतर इंद्रिय जिससे हम जानते हैं समझते हैं वो मेधा वो इंद्रिय ये एक अर्थ हुआ दूसरा अर्थ है कि उस आभ्यंतर इंद्रिय में जो धारण किया जाता है जो रहता है वह है जो बुद्धि इंद्रिय है उसमें क्या रहता है तो उसमें ज्ञान रहता है वह ज्ञान मुझे प्राप्त हो तो ज्ञान को भी मेधा नाम से कहा गया है निरुक्त में मेधा शब्द का निर्वचन किया अर्थ खोला गया मतऊ धीयते यत तत् अथवा मतऊ धीयते या सा मेधा मतऊ का मतलब है मति में बुद्धि में इंद्रिय में जिसका धारण किया जाता है बुद्धि में जो धारित होता है वह उसे मेधा कहते हैं तो मेधा के दो तरह के अर्थ हुए एक आभ्यंतर इंद्रिय जिसमें धारण किया जाता है वह और दूसरा बुद्धि में जिसको धारण किया जाता है वह दोनों ही लिए जा सकते हैं पर यहां अभी मुख्यता में उसकी ले रहा हूं दूसरे अर्थ की जिसको धारण किया जाता है वह क्योंकि मंत्र की प्रक्रिया मंत्र का अर्थ कुछ इस तरह का प्रतीत होता है तो आर्य जो कि मेधा के महत्व को समझता है बुद्धि के महत्व को समझता है और बुद्धि में जो ज्ञान रहना चाहिए उसके महत्व को भी समझता है वह प्रार्थना कर रहा है परमात्मा हमारे लिए निर्देश दे रहा है कि हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए तो कहा मेधा में वरुणो ददातु मेरे लिए वरुण वरुण मेधाम ददातु मेधा को प्रदान करें कामना हम उसकी करते हैं जो हमें अपने लिए लाभदायक लगता है तो जो व्यक्ति जो आर्य ये प्रार्थना कर रहा है वो मेधा की महत्ता समझता है और अब वो प्रार्थना कर रहा है वरुण से वरुण परमात्मा का नाम है और इस मंत्र में अलग अलग नामों से संबोधित करते हुए उद्धृत करते हुए मेधा की कामना की गई है जैसे कहा मेधा में वरुणो ददातु मेधाम अग्नि अग्नि भी मुझे मेधा प्रदान करे अग्नि भी परमात्मा का है वाचक है मेधाम अग्नि प्रजापति प्रजापति में मेधाम ददातु प्रजापति मुझे मेधा दे तो इस अंश में तीन का उल्लेख किया वरुण अग्नि और प्रजापति यद्यपि तीनों नाम परमात्मा के ही हैं लेकिन फिर भी तीन अलग अलग नाम दिए गए हैं और अगली पंक्ति में मेधाम इंद्रश्च वायुश्च उसी मेधा को मुझे दे कौन इंद्र और कौन दे वायु मेधाम धाता जो धाता है धारण करने वाला है परमात्मा वह मुझे मेधा प्रदान करे ये मैं सत्य वचन बोलता हूं मुझे वो प्रदान करे कामना एक ही है मेधा की लेकिन अलग अलग गुणों को देते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अलग अलग व्यक्तियों से कामना की जा रही है लेकिन चूंकि ये सब नाम परमात्मा के ही हैं तो व्यक्ति तो एक ही है उसी से ये प्रार्थना की जा रही है फिर अलग अलग नाम यहां क्यों दे दिए गए वरुण अग्नि प्रजापति इंद्र वायु और धाता छह नाम दिए गए और अलग अलग नाम से परमात्मा को उद्धृत करते हुए मेधा की कामना की जा रही है तो इन सबका प्रयोजन है क्यों ये नाम दिए गए मेधा से क्या होता है मेधा से क्या क्या हो सकता है हमारी मेधा कैसी होनी चाहिए कैसी मेधा की हम कामना करें वो इससे पता लगता है नहीं तो एक सामान्य भाव उभरेगा कि मुझे मेधा मिले बुद्धि मेरी बढ़े बुद्धि इंद्रिय की सामर्थ्य बढ़े जिसमें ज्ञान रहता है और दूसरा उस इंद्रिय में बहुत ज्ञान रहे बस इतना लेकिन इतने से होगा क्या हमने तीव्र बुद्धि की उच्च बुद्धि की श्रेष्ठ बुद्धि की कामना कर ली मेधा की कामना कर ली और वो इंद्रिय अच्छी आ भी गई हमारे पास में उससे क्या होगा क्या इतने मात्र से जीवन सफल हो जाता है क्या इतने मात्र से हम प्रगति की तरफ बढ़ जाते हैं बहुत श्रेष्ठ मेधा को पाकर के भी व्यक्ति पतन को प्राप्त करता है बल्कि जिसकी बुद्धि अधिक होती है वो बहुत अधिक पतन को प्राप्त कर सकता है बहुत अधिक पतन को प्राप्त करेगा वो तो केवल बुद्धि के बढ़ने से कुछ सफलता नहीं होती है वो साधन अवश्य है महत्वपूर्ण साधन है लेकिन उससे पतन भी हो सकता है और जब हम केवल ज्ञान की दृष्टि से देखें किसमें ज्ञान आए कौन सा ज्ञान इस बुद्धि में मेधा आए यानी ज्ञान आए तो ज्ञान तो सब तरह का है विभिन्न तरह के ज्ञान है विभिन्न तरह की सूचनाएं हैं विभिन्न तरह की जानकारियां हैं लेकिन वो सब हमारे लिए हितकर हो ये आवश्यक नहीं है वो अहितकर भी हो सकते हैं तो यहां परमात्मा के छह नामों को उत्तरित करते हुए उनसे मेधा की कामना की गई है तो जिस जिस गुण वाला परमात्मा है इन शब्दों से ज्ञात होता है उस तरह की चीजें हम प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए ये बार बार यहां पर कहा गया जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके पास कैसी बुद्धि है कैसी मेधा है तो पहला जो अंश था मेधा में वरुणो ददातु वरुण किसे कहते हैं वैसे तो परमात्मा को कहते हैं लेकिन वरुण का अर्थ क्या है शब्द का दूसरे दूसरे ढंग से वाक्य को बोलूं तो परमात्मा को वरुण क्यों कहते हैं किन गुणों के कारण से परमात्मा को वरुण कहते हैं ऐसे उस गुण वाले परमात्मा से मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो वरुण का अर्थ होता है एक वर्णीय जो वर्ण करने योग्य होता है श्रेष्ठ जो होता है मैं किससे मेधा की कामना कर रहा हूं जो वरुण है जो श्रेष्ठ है जो वर्ण के योग्य है वरुण शब्द दो धातुओं से बनता है व्रीय वर्णे से भी बनता है और दूसरा है वर ईप्सायाम ईप्सा में चाहना में भी वर्णीय कौन होता है जो श्रेष्ठ होता है हम किसको वर्ण करते हैं जो श्रेष्ठ होता है और किसकी हम कामना करते हैं जो हितकर होता है तो परमात्मा किसका वर्ण करता है या वो किसका वर्ण करता है कौन लोग परमात्मा का वर्ण करते हैं तो वरुण शब्द का अर्थ खोलते हुए सत्यात प्रकाश के प्रथम समोल्लास में महर्षि ने दो तरह से इसके अर्थ किए एक कहा यह सर्वान शिष्टान जो ये परमात्मा से संबंधित है ये व्याख्या सत्यात प्रकाश में प्रथम समोल्लास में तो यह जो यानी जो परमात्मा सर्वान शिष्टान सब शिष्ट लोगों को जो शालीन लोग होते हैं शिष्ट होते हैं प्रबुद्ध लोग होते हैं ऋषि जैसे होते हैं शिष्ट लोग उन सबको यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षु धर्मात्मान मुमुक्षु लोगों को जिनकी मुक्ति कामने काम मुक्ति की इच्छा है जो मुक्ति की कामना रखते हैं वो मोक्ष लोग और धर्मात्मा जो सज्जन लोग हैं धर्म का पालन करते हैं उन लोगों को वृणोति वरण करता है परमात्मा वरुण है परमात्मा वृणोति वरण करता है दूसरों का वरण करता है किनका तो तीन विशेषण दिए महर्षि ने यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षु धर्मात्मान वृणोती जो सब शिष्ट लोगों को मुमुक्षु लोगों को और धर्मात्माओं को वर्ण करता है इसलिए वो वरुण है तो हम किस वरुण से मेधा की कामना कर रहे हैं मेधा में वरुणो ददातु हम उस वरुण की से कामना कर रहे हैं जो सब शिष्टों का वर्ण करता है जो सब मुमुक्षुओं का वर्ण करता है और जो सब धर्मात्माओं का वर्ण करता है ऐसे उस वरुण से मेधा की कामना कर रही तो ऐसा वो वरुण अपने किस ज्ञान के कारण से शिष्टों को चाहता है वर्ण करता है उसकी क्या विशेषता है जिससे वो शिष्टों का ही वर्ण करता है अशिष्टों का वर्ण नहीं करता है वो मुमुक्षुओं का ही वर्ण करता है अमुमुक्षुओं का नहीं और धर्मात्माओं का ही वर्ण करता है अधर्मात्माओं का नहीं वो विशेषता जो है परमात्मा में उस वरुण में वो मुझे चाहिए अर्थात मैं भी उस वरुण की मेधा को प्राप्त करके वरुण जैसा बन जाऊं अर्थात मेरी बुद्धि भी मेरी बुद्धि में वो ज्ञान रहे कि मैं शिष्टों का ही वर्ण करूं मैं मुमुक्षुओं का ही वर्ण करूं और मैं धर्मात्माओं का ही वर्ण करूं उन्हीं को लू ऐसी बुद्धि चाहिए ऐसा ज्ञान चाहिए मुझे ऐसी मेधा चाहिए और दूसरा अर्थ किया महर्षि ने यह शिष्ट ही मुमुक्षु भी धर्मात्म भी व्रियते वरियते वा जो शिष्टों के द्वारा वर्ण किया जाता है उसे भी वरुण कहते हैं यानी शिष्ट लोग जिसका वर्ण करते हैं जिसको पाना चाहते हैं जिसको ग्रहण करते हैं वो भी वरुण कहलाते हैं पहले वाला अर्थ क्या था यह वृणोती जो वर्ण करता है शिष्ट लोगों का यह परमात्मा है वर्ण करने वाला और अब परमात्मा को शिष्ट लोग वर्ण करते हैं शिष्ट लोग जिसका वर्ण करते हैं उसे भी वरुण कहते हैं तो शिष्ट लोग जिसका वर्ण करते हैं मुमुक्षु लोग जिसका वर्ण करते हैं और धर्मात्मा लोग जिस वरुण का जिसका वर्ण करते हैं वो वरुण मुझे मेधा प्रदान करे जिसको शिष्ट मुमुक्षु और धर्मात्मा वर्ण करते हैं उसमें कुछ विशेषता तो होगी क्यों ये लोग उसका वर्ण करते हैं तो जिस ज्ञान के कारण से उस परमात्मा का वरुण का ये श्रेष्ठ लोग वर्ण करते हैं उस श्रेष्ठता का कारण जो मेधा है वो मेधा मुझे प्राप्त हो जाए और उससे क्या होगा कि शिष्ट लोग मेरा वर्ण कर सकेंगे मुमुक्षु लोग मेरा वर्ण कर सकेंगे और धर्मात्मा लोग मेरा वर्ण कर सकेंगे मैं ऐसा बनना चाहता हूं इसलिए वरुण से कामना कर रहा हूं मेधाम मे वरुणो ददातु हे वरुण मुझे मेधा प्रदान करो तो यहां आर्य के मन में वो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है जिससे कि परमात्मा वरुण कहलाता है वो अच्छे लोगों का वर्ण करता है और अच्छे लोग उसका वर्ण करते हैं बस मैं भी ऐसा ही बन जाऊं उस ज्ञान को प्राप्त करके मैं भी श्रेष्ठों का वर्ण करूं और श्रेष्ठ मेरा वर्ण कर ले मेधा में वर्णो दधा तो आगे का मेधाम अग्नि ही वो अग्नि मुझे मेधा प्रदान करे तो अग्नि भी है तो परमात्मा ही उसी परमात्मा से कामना की जा रही है लेकिन परमात्मा को अग्नि क्यों कहते हैं किन गुणों के कारण से ईश्वर को अग्नि कहते हैं तो अग्नि जो अग्रणी होता है अग्नि जो ज्ञान स्वरूप होता है वो परमात्मा कैसे अग्रणी है क्यों अग्रणी है वो जिस ज्ञान के कारण से अग्रणी है वो ज्ञान मेरे को भी प्राप्त हो वो मेधा मुझे भी प्राप्त हो जिससे मैं भी अग्नि बन जाऊं मैं भी अग्रणी बन जाऊं मैं भी लोगों का मार्गदर्शक बन जाऊं फिर कहा प्रजापति ही वो प्रजापति में मेधाम ददा तू मुझे मेधा देवे अब प्रजापति भी परमात्मा ही है लेकिन क्यों कहते हैं उसको प्रजापति ही? क्योंकि वो प्रजाओं का पालन करने वाला है ईश्वर प्रजाओं का पालन किस मेधा के कारण से करता है किस सोच के कारण से करता है किस ज्ञान के कारण से करता है वो एक विशेष गुण है मेधा का एक विशेष गुण है सब मेधा वाले सब बुद्धि वाले प्रजाओं का पालन तो नहीं करते हैं कोई प्रजाओं का पालन अच्छी तरह करता है कोई कम करता है कोई नहीं भी करता तो केवल ज्ञान होना प्रजापति बनने में अनिवार्य कारण नहीं है विशेष प्रकार का ज्ञान होता है तब व्यक्ति प्रजापति बनता है प्रजाओं के पालन का विचार उसमें आता है प्रजाओं के पालन के लिए वो प्रयत्न करता है वो जो ज्ञान है जिससे कोई व्यक्ति प्रजाओं का पालक बन जाता है तो परमात्मा जिस ज्ञान के कारण से प्रजापति है वो ज्ञान वो मेधा मुझे प्राप्त हो इस गुण वाली मेधा प्राप्त हो ताकि मैं भी प्रजाओं का पालक बनूं जो भी मेरी प्रजा है जो भी मेरे साथ रहते हैं जो भी मेरे से, से कम है कम अवस्था वाले हैं मैं उनका पालक बनूं उनका हित करने वाला बनूं तो मेधा की ही कामना की जा रही है वैसे तो लेकिन मेधा के भिन्न भिन्न गुणों की कामना की जा रही है मेधा में वरुणो ददातु मेधा अग्नि प्रजापति दूसरी पंक्ति में कहा मेधाम इंद्रश्च और इंद्र भी मुझे मेधा प्रदान करे अब यहां भी वही इंद्र यानी परमात्मा ही है फिर उससे कामना की जा रही है यानी मेधा की भी भिन्नताएं आर्य को पता है ज्ञान का स्तर भिन्न भिन्न गुण उस ज्ञान के होते हैं इंद्र का मतलब है जो परमेश्वरीयवान है अत्यंत संपन्न है विभिन्न चीजों से विभिन्न साधनों से ये जो संपन्नता आती है जिस मेधा के कारण से जिस ज्ञान के कारण से वो मुझे प्राप्त हो ताकि मैं भी परमेश्वर्य वाला हो जाऊं अच्छा ज्ञान होते हुए भी बहुत सारी सूचनाएं होते हुए भी पढ़ा लिखा होते हुए भी सबके पास में ऐश्वर्य नहीं आता है सब अपने उस ज्ञान का प्रयोग करके ऐश्वर्य धन संपत्ति साधनों को एकत्र नहीं कर पाते हैं समान कक्षाओं में पढ़े हुए समान शैक्षणिक योग्यता वालों में भिन्न भिन्न स्तर रहता है ऐश्वर्य का तो ज्ञान का कुछ विशेष गुण है जो उस व्यक्ति को ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए समर्थ बनाता है तो आर्य कहता है कि मुझे परमेश्वर्य की प्राप्ति भी हो तो जिस ज्ञान के कारण से परमात्मा इस सब का स्वामी है ऐश्वर्य वाला है इतने सामर्थ्य वाला है वो मुझे भी प्राप्त हो मैं भी परमेश्वर्य को प्राप्त कर सकू आगे कहा वायुष्य और वायु भी मेरे को मेधा प्रदान करे वायु भी यहां पर परमात्मा ही है परमात्मा को वायु क्यों कहते हैं तो वायु शब्द वा गति गंधन गति और गंधन दो अर्थों में है वाति इति वायु जो गति करता है उसे वायु कहते हैं परमात्मा देशांतर गति तो नहीं करता लेकिन सक्रिय बहुत है क्रियाशील बहुत है सतत क्रियाशील है ये उसकी गति है किस ज्ञान के कारण परमात्मा इतना गतिशील है क्यों वो परमात्मा जीवात्माओं का सतत हित करता रहता है ऐसा क्या ज्ञान है उसका कि वो करता ही रहता है हित करता ही रहता है ऐसा ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो जिससे मैं भी वायु बन जाऊं मैं गतिशील रहूं ज्ञान को प्राप्त करके सब गतिशील नहीं होते बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ के सब गतिशील नहीं होते क्रियाशील नहीं होते शक्ति सामर्थ्य से युक्त नहीं होते लेकिन परमात्मा के पास ज्ञान भी है सर्वज्ञ भी है और वो गतिशील भी है वो गतियों को करने में समर्थ है वो गतियां ठीक ठीक करता है वो अपने कर्मों को बिल्कुल ठीक ठीक करता है तो हमारे कर्म भी खूब हो हमारे कर्म ठीक हो उचित हो व्यवस्थित हो ऐसा जिस ज्ञान से हो सके वो ज्ञान मुझे चाहिए मेधाम इंद्रश्च वायुश्च तो ऐसा वह वायु वह परमात्मा मुझे भी उस मेधा को प्रदान करे जिस मेधा के कारण से वो खुद वायु बना हुआ है मैं ज्ञान प्राप्त करके मेधा प्राप्त करके गतिशील रहूं आगे कहा मेधाम धाता धाता धारण करने वाला हम परमात्मा को विधाता शब्द से भी बोलते हैं वो विधाता है भी यानी विशेष प्रकार से धाता यानी धारण करने वाला वो परमात्मा धाता है धारण करने वाला है और उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मेधा दे तो परमात्मा सबका धारण करने वाला जिस ज्ञान से बना है वह ज्ञान मेरे को भी मिले मैं भी दूसरों का धारण करने वाला बनू धाता बन जाऊं मैं भी और ये जो कामना की जा रही है आर्य कह रहा है स्वाहा ये सत्य सिद्ध हो मैं ठीक बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं कि मेरे को ये चाहिए ये गुण मेरे में चाहिए आर्य मेधा की कामना करता है दुनिया का हर व्यक्ति अच्छी बुद्धि की कामना करता है लेकिन कोई केवल बुद्धि इंद्रिय की प्रबलता स्मरण शक्ति की अधिकता इतना ही कामना करता है और प्रयोजन उसके भिन्न रहते हैं कि अच्छा स्मरण रहेगा तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा इतनी चतुराई करूंगा कि कोई मेरे को पकड़ ही नहीं पाएगा ऐसे भी लोग हैं जो मेधा की कामना करते हैं ऐसे भी लोग हैं जो अधिक ज्ञान की कामना करते हैं लेकिन आर्य मात्र इतनी कामना नहीं करेगा आर्य तो इन इन गुणों से युक्त परमात्मा से इस इस प्रकार की मेधा की कामना करता है हमें जिस मेधा की कामना है वो इस प्रकार की बन सके उसके साथ में ये विशेषण जुड़ जाए कि मैं श्रेष्ठों का वर्णीय बन जाऊं और श्रेष्ठ मुझे वर्ण कर ले इत्यादि जितनी भी सारी बातें कही गई हैं इन विशेषणों को साथ में रखते हुए परमात्मा से मेधा की कामना है प्रार्थना है कि मेरे में ये गुण आए और मैं परमात्मा के इन इन गुणों से युक्त बन जाऊं इस भावना को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण और शांति ओ शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरो ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे शांति ब्रह्म ब्रह्मशान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः सबको नमस्ते